अरे नैना क्या हुआ पेंट्री के भीतर घुसते ही विक्रांत ने कहा कुछ चाहिए क्या विक्रांत के लफ्जों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो नैना को खिजाने की कोशिश कर रहा है इतना कहते ही वो पेंट्री के अंदर घुसकर कॉफी मशीन से खुद के लिए कॉफी बनाने लग गया क्यों नैना ने अपनी जेब से अपना फोन बाहर निकालते हुए कहा तुम इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे नहीं बिल्कुल नहीं विक्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा तुम टीम लीडर हो ना तो जैसा तुम कहोगी मुझे तो वैसा ही करूंगा मुझे पता है तुम यही कहोगे विक्रांत को तरेरते हुए नैना ने अपना फोन वापस से जेब में घुसा लिया हम्म लेकिन एक बात जान लो बाद में अगर कोई बात होती है तो मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा मैं साफ कह दूंगा कि जैसा तुमने कहा मैंने ठीक वैसा ही किया है विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा इस वक्त उसके चेहरे पर शरारत वाली मुस्कान थी नैना ने मानो विक्रांत की इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया इस वक्त वो कुछ और ही सोच रही थी उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत हम इसके बारे में सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करें या ना करें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दरअसल मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर इन्होंने बच्चों का मर्डर भी किया होगा तो भी हम इनका ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे हम्म, मतलब विक्रांत को समझ नहीं आया कि नैना किस बारे में बात कर रही नैना हमें आगे के लिए कुछ सोचना होगा भले ही ये तीनों संदिग्ध है लेकिन फिर भी ये तीनों बस संदिग्ध ही है हमारे पास कोई सबूत नहीं है हम्म, नैना ने कुछ पल तक सोचते रहने के बाद कहा जहाँ तक मुझे लगता है अगर हमें ये केस जल्द से जल्द खत्म करना है तो हमें कुछ अलग करना होगा ऐसे रूल्स फॉलो करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला हमें उन पर दबाव बनाना होगा ताकि वो खुद ही सब कुछ सच सच बता दें क्या तुम क्या प्लान बना रही हो विक्रांत ने नैना की तरफ देखकर चौंकते हुए कहा नैना हम ये कैसे कर सकते हैं अभी तक तो हम श्योर भी नहीं हैं कि यही लोग किडनैपर थे और इन्होंने ही उन बच्चों का मर्डर किया था हाँ श्योर नहीं हूँ लेकिन नैना ने कुछ सोचते हुए कहा अगर हम रमाकांत अग्रवाल और अशोक को भी नितेश की तरह इंटेरोगेट करें तो हो सकता है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें बस ये करना है कि इन्हें तब तक अंधेरे में रखे जब तक कि ये हमें सब कुछ खुद ही सच सच न बता दें क्या विक्रांत ने चौंकते हुए कहा देखो नैना मैं अशोक या रमाकांत को पर्सनली तो नहीं जानता लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं मुझे नहीं लगता कि नितेश की ही तरह इन्हें भी हम अपने जाल में फंसा सकते हैं हम्म मेरे पास दोनों के बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है मैंने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा तुम सही कह रहे हो ये ये दोनों बहुत पावरफुल हैं पैसा भी बहुत है इनके पास अगर हम जैसे इन्हें कस्टडी में लेंगे तो ये बड़े से बड़े लॉयर को लाकर हमारे सामने खड़ा कर देंगे और चुटकी बजाते ही कस्टडी से बाहर भी निकल जाएंगे लेकिन अगर हम कुछ और ट्राई करें तो मतलब हम कोई लीड लेकर आए तो विक्रांत थोड़ा कंफ्यूज हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैना किस बारे में बात कर रही है मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रही हो तुम हम्म, नैना ने हल्की सांस छोड़ी फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत तुमने रमाकांत अग्रवाल की सारी डिटेल पढ़ी में लिखा हुआ था कि रमाकांत की पहली बीवी की डेथ के बाद उसने कभी दूसरी शादी नहीं की जबकि शादी के एक दो साल बाद ही उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी जबकि रमाकांत के पास पैसे की कोई कमी नहीं है फिर भी उसने भला शादी क्यों नहीं की सब लोग बोलते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल था जबकि वो चाहता तो बड़े आराम से शादी कर सकता था अरे अयाश होगा पैसे की कोई कमी नहीं है रोज लड़कियों पर मुंह मारता रहा होगा शादी क्यों करेगा विक्रांत ने तपाक से कहा नैना अपनी आंखें बड़ी करके विक्रांत को देखने लगी वैसे विक्रांत से उम्मीद भी इसी तरह की थी जैसी विक्रांत की सोच है वो इसी तरह की बातें कर सकता है चुप करो नैना ने विक्रांत को चुप कराते हुए कहा फिर उसने विक्रांत के हाथ से कॉफी का कप ले लिया और फिर कॉफी की एक सिप लेते हुए कहा लग रहा है तुमने रमाकांत अग्रवाल के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है उसका आज तक एक अफेयर तक नहीं रहा है और जब उसके वाइफ की डेथ हुई थी तब उसके इकलौते बेटे की उम्र मात्र एक साल की ही थी ऐसे में हो सकता है कि उसने अपने बेटे के चलते ही खुद दूसरी शादी नहीं की क्योंकि अगर वो दूसरी शादी करता और दूसरी औरत घर में आती तो हो सकता था कि वो उसके बेटे को उतने प्यार से ना रखती मुझे लग रहा है कि इसी डर से उसने दूसरी शादी नहीं की अच्छा अभी भी विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना कहना क्या चाहती है लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया नैना तुम ए, कहना क्या चाहती हो चिट कहीं तुम्हारा मतलब हो नहीं वो वो उसका बेटा अब सत्ताईस साल का है तुम तुम उसके बेटे रोहित अग्रवाल को किडनैप करने का प्लान बना रही है क्या नैना के चेहरे पर मुस्कान के साथ विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम पागल हो क्या हम हम पुलिस वाले हैं और पुलिस का काम किडनैपर्स को पकड़ना होता है खुद किडनैप करना नहीं लेकिन मैंने सुना है कि अशोक का एक पोता भी है क्या विक्रांत हैरानी भरी नजरों से नैना की तरफ देखने लग गया उसे उम्मीद भी नहीं थी कि नैना उस हद तक भी सोच सकती है एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना ऐसा भी सोच सकती है ए, अरे नहीं नैना ने फिर से हंसते हुए कहा मैं, तो मजाक कर रही थी मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती अच्छा विक्रांत तुम ही क्यों नहीं कुछ बताते ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए इतना कहकर नैना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई विक्रांत बिल्कुल शॉक्ड रह गया नैना ने उसे बिल्कुल असमंजस की स्थिति में डाल दिया था उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नैना इस तरह का भी प्लान बना सकती है यहाँ तक कि इतना बड़ा कभी विक्रांत ने भी नहीं सोचा था हाथ में कॉफी का कप पकड़े विक्रांत अवाक रहकर नैना द्वारा कही गई बातों को सोचने लगा ये लड़की कितनी चालाक है और कितनी शातिर है किडनैप करने तक का सोच ले गई हे भगवान इसके बाद विक्रांत ने खुद के लिए एक कप कॉफी और रेडी की और फिर इसे लेकर अपने कैबिन में आकर बैठ गया अपनी चेयर पर बैठकर वो फिर से नैना की बातों पर विचार करने लग गया अगर नैना जो कह रही है वो किया गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा मतलब अगर सच में रमाकांत या अशोक के बेटे को किडनैप कर लिया गया तो फिर क्या परिणाम होगा अगर ये दोनों सच में किडनैपर हैं तो ये अपने बच्चों को भी किडनैपर की तरह ही ढूंढने की कोशिश करेंगे फिर हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा